द्वितीय मंत्र पूरा हो गया था तृतीय मंत्र श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु ऐसे कहा गया टीका में सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठान चैतन्यम श्रोत्र से श्रोतम इत्यादि न लक्षितम शीतम प्रश्न हुआ उत्तर दिया श्रोत्र का श्रोत्र चक्षु का चक्षु जो कहा गया वो लक्षणा से कहा गया अधिष्ठान चैतन्य सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्जुवत रज में सर्प का अध्यास होता है सुक्ति में रजत का अध्यास आरोप होता है सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान जैसे रज्जु है रज में सर्प का अध्यास हो सकता है अन्य भी अध्यास हो सकता अन्य का सर्प कोई कहता माला कोई कहता है दंड कोई कहता है जलधारा इस सर्पादि के अध्यास का अधिष्ठान जैसे रज्जु इसी प्रकार श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य श्रोत्रादि भी अध्यस्त है उसका अध्यास का अधिष्ठान चैतन्य होता है अधिष्ठान चैतन्य सबका अधिष्ठान सारे पदार्थ प्रपंच अध्यास का अधिष्ठान ही चैतन्य यहाँ भी श्रोत्रादि भी परिचिन्न है भौतिक है जड़ है वो अध्यस्त है अध्यास का अधिष्ठान है चैतन्य वो अध्यास अधिष्ठान चैतन्य ही श्रोत्र से श्रोत्रम करके उपदेश किया गया श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि ना लक्षितम लक्षण या उत्तम लक्षणा से अधिष्ठान चेतन कहा गया श्रोत्र का श्रोत्रम श्रोत्र है नहीं श्रोत्र में जो श्रवण सामर्थ्य जिसके निमित्त जिसकी सत्ता स्फूर्ति से श्रवण इंद्रिय में शब्द ग्रहण सामर्थ्य है वो अधिष्ठान चैतन्य ही है अध्यस्त में सत्ता और स्फुरन अधिष्ठान की ही होती है अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्त में दिखती है अधिष्ठान के स्फुरन से अध्यस्त का स्फुरन होता है जिस प्रकार दृष्टांत रूप से रज्जु में सर्प दिखता है रज्जु जब तक है तब तक सर्प है रज्जु को कोई हटा दिया तो सर्प नहीं दिखेगा रज्जु होने पर भी रज्जु का स्फुरन हो प्रतीत हो इदम त्वेना रज्जु तेन ज्ञान नहीं हो किंतु रज्जु दिखे तभी तो सर्प दिखेगा रज्जु को ढाक दिया व्यवधान कुछ हो गया तो सर्प नहीं दिखेगा अर्थात रज्जु की सत्ता ही सर्प में दिखती सर्प की सत्ता अलग नहीं है रज्जु के स्फुरन होने पर सर्प का स्फुरन होता है तो अधिष्ठान रज्जु की सत्ता और स्फूर्ति सर्प में दिखती है इसी प्रकार अध्यस्त वस्तु जितने हैं सब की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं अधिष्ठान सत्ता ही उसमें दिखती है और अधिष्ठान के स्फुरण से उनका स्फुरण होता है तो श्रोत्र स्वयं अध्यस्त होने से उसका अधिष्ठान कर लेने के लिए श्रोत्र से श्रोत्रम कहा गया लक्षणा से तरी रज्जुवद अधिष्ठानत्वाद विषय तो प्रसंग इति शंका निवर्तयति अब रज्जु अधिष्ठान है अधिष्ठान होने पर उसको प्रत्यक्ष दिखता है रज्जु सर्प रज्जु ज्ञान होने पर सर्प दिखता नहीं तो रज्जु जैसे प्रत्यक्ष विषय हुआ क्योंकि अधिष्ठान है तो चैतन्य में यदि अधिष्ठान होगा प्रपंच अध्यास का अधिष्ठान होगा वो भी विषय हो जाएगा इंद्र का विषय ये शंका का वारण करते हैं यस्मात् श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म श्रोत्रादि का भी श्रोत्रादि श्रोत्र का जो श्रोत्र है वे आत्म सूत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म आत्मभूत ब्रह्म ही वह आत्मस्वरूप है सूत्रादि के भी आत्मरूप है न तत्र चक्षुर्गछति न वा गच्छति नो मनमः मन न विद्मो न विजानीमो दत्तो अविदिता अविदितादति इति शुश्रुम पूर्वेषां येनस्तद व्याचचक्षिरे न तत्र चक्षुर गच्छति तत्र ब्रह्मणी चक्षुर न गच्छति चक्षुष को विषय नहीं कर पाती न वा गच्छति न मन वाग इंद्र भी शब्द के द्वारा उसको प्रकाश नहीं कर सकती न मन मन का विषय नहीं न विद्मो इदम इत्थम इस प्रकार है ऐसा हम नहीं जानते हैं इसी प्रकार कोई इसमें धर्म इंद्र का विषय नहीं होने से यह इस प्रकार ऐसा नहीं जानते हैं न बिजानी मोह इसलिए इसलिए हम नहीं जानते यथे तद अनुशिष्याद जैसे इसका उपदेश किया जाए ये हम ठीक नहीं जानते तो बिल्कुल उपदेश नहीं होगा तो इसलिए कहते नहीं उपदेश ऐसा होगा अन्य देव तद विदिता अथवा विदिता अधि ये आगम श्रुति अन्य देव तद विदिता अथवा विदिता अधि तद ब्रह्म अन्य देव विदिताद जितने विदित ज्ञात वस्तु उसे भिन्न है ब्रह्म ज्ञात वस्तु जितने ज्ञान ज्ञात सब दृश्य है जड़ है अनित्य है उनसे अन्य है और ज्ञात से अन्य हो तो फिर अज्ञात होगा अविदित तो अज्ञान अज्ञान अविदिता अदधि अज्ञान से भी ऊपर है अज्ञान से भी भिन्न है जितने वस्तु अपने से भिन्न कोई ज्ञात कोई अज्ञात है और ब्रह्म ज्ञात से भिन्न अज्ञात से भी भिन्न तो अपना स्वरूप है इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चिकिरे पूर्वेशाम आचार्याणाम वचनम पूर्व आचार्य का वचन हमें सुना कि जिन्होंने हमको यही ब्रह्म का व्याख्यान करके स्पष्ट बताया थे यस्मात् सूत्रादिरपि श्रोत्रादि आदि आत्मभूतम ब्रह्म श्रोत्र का श्रोत आत्मा है सर्व आत्मा ही है अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति ब्रह्म में चक्षुर नहीं जाता है विषय नहीं करता है स्वात्मनि गमन असंभव अपना स्वरूप है स्वरूप में सस्य गमन नहीं होगा तथा न वागच्छति वाग भी नहीं जाती है वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अभिधेयम प्रकाशयति यथा तदा अभिधेयम प्रति गच्छति उच्यते वाग न गच्छति वागेंद्र नहीं जाती क्या अर्थ क्या वागेंद्र तो यहाँ है शब्द उच्चारण किया जाता है वागेंद्र के तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं तो वाचा ही शब्द उच्चार्यमाण वागेंद्र से शब्द उच्चारण किया जाता है शब्द उच्चारण किया जाता है वो तो शब्द प्रकाश प्रकाशयति शब्द अभिधेय अर्थ को ज्ञान कराता है शब्द उच्चारण करने पर जो शब्द सुनता है अर्थ को जानता है तो शब्द अर्थ को प्रकाश करता है ज्ञान कराता है जब इसे करता है तब कहते शब्द अभिधेयम प्रति गच्छति ऐसे कहा जाता है तदा अविधेयम प्रति वाह गच्छति तुच्यते वाग गच्छति जातीय अभिधेय अर्थ के प्रति किंतु उच्चारण करने से अर्थ का ज्ञान होता है श्रोता को इसलिए कहते वागच्छति ऐसे गौण प्रयोग है तस्य च शब्दस्य निर्वर्तकस्य च कर्णस्य से आत्मा ब्रह्मा तो न वागच्छति शब्द का निर्वर्तकस्य कर्णस्य च शब्द का भी आत्मा ब्रह्म शब्द का निर्वर्तक संपादक उत्पादक जो वाग इंद्र है उसका भी आत्मा है ब्रह्म सारे प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म अधिष्ठानी अध्यस्त का वास्तव स्वरूप है आत्मा है तो शब्द शब्द का निर्वर्तक संपादक करण च इंद्र उसका भी आत्मा ब्रह्म अतनो वाग अतो न वाग से इसलिए वाग उसको विषय नहीं करती है यथा अग्निर् दाहकः प्रकाशकश्चापि सन् न हि आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वत् अग्नि तो दाहक है प्रकाशक भी है ऐसा होता हुआ भी अपने को दाह करती अग्नि अपने को प्रकाश करती ऐसा नहीं होता है अन्य को प्रकाश करती अन्य को दहन करती नहीं आत्मान प्रकाशयति दहति च आत्मान न प्रकाशयति आत्मान न दहति अग्नि उसी प्रकार विषय को प्रकाश करने के लिए वाग इंद्रिय अर्थ को प्रकाश करती शब्द उच्चारण करके चक्षुरादि विषय को प्रकाश करते किंतु अपने को अपने स्वरूप अपना ही आत्मा ही अधिष्ठान चैतन्य अपने स्वरूप को न प्रकाश कोई नहीं करती है ठीक है मैं अध्यस्त से ही अधिष्ठान में स्वरूपम तो वाग इंद्र का भी आत्मा है ब्रह्म चक्षु का भी आत्मा है सब इंद्र का आत्मा ब्रह्म सबका आत्मा ब्रह्म के का अध्यस्त तो बहुत पदार्थ है अध्यस्त ही अधिष्ठान में स्वरूपम अध्यस्त आरोपित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान ही है अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता है नहीं सर्प दिखता है अध्यस्त सर्प का वास्तव स्वरूप अधिष्ठान ही है रज्जु उसे अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं तो प्रतीति काल में जो सर्प दिखता है उस समय तो रज्जु नहीं रहती रहेगी सर्प देखते समय आद्यंत मध्यस्थ तद अव्यभिचारात सर्प प्रतिदि के पहले रज्जु रहती और सर्प ज्ञान काल में रज्जु रही सर जो रज्जु का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प रहेगा हैं गलत है सर्प तो नहीं रहेगा रज्जु तो रहेगी सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञान होने के बाद रज्जु रहती है तो रज्जु कहां कब नहीं रहती आदि मध्य अंत तीनों काल में रज्जु है सर्प भी तीनों काल में है भ्रांति के पहले नहीं था और ज्ञान रज्जु ज्ञान होने के बाद नहीं रहेगा मध्य में मध्य में रहता है हाँ, स्वरूपम अधिष्ठान मेव स्वरूपम अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान ही है अधिष्ठान एव उससे अतिरिक्त नहीं है अध्यस्त सर्प का स्वरूप अधिष्ठान रज्जु ही है उसे अतिरिक्त नहीं सर्प आदि अंत मध्यसु तद अव्यभिचारात आदि अंत मध्य आदि भ्रांति के पहले मध्य भ्रांति काल अंत में भ्रांति निवृत्ति होने पर तस्य अव्यभिचारात रज्जु ही रहती है तो रज्जु को विषय अधिष्ठान अपना स्वरूप ब्रह्म हो गया ठीक है अपना स्वरूप यदि ब्रह्म हो गया उसको क्यों विषय नहीं करेगा चक्षु वाग आदि स्वरूप विषयता च न पदार्थ धर्म स्वरूप विषयकता स्वरूपम विषय यस्य कोई पदार्थ ने अपने स्वरूप को विषय करे स्वरूप प्रकाश करे स्वरूप विषय नहीं ठीक है मैं दिया ब्रह्म न आदि विषय तत्स्वरूपत्वा तद्वत ब्रह्म आदि का विषय नहीं है क्योंकि आदि का स्वरूप है ब्रह्म जो एक स्वरूप तद्वत ब्रह्मवत ब्रह्म जैसे स्वरूप है सूत्रादि का ब्रह्म का विषय नहीं इस वह सूत्रादि का भी विषय नहीं क्योंकि सब स्वरूप है अनुकूल तर्क कहते स्वरूप विषयता स्वरूप विषय कहते सूत्रादि नाम पदार्थता वे भज्यत कोई भी पदार्थ ने अपने स्वरूप को विषय करे श्रोत्रादि यदि अपने स्वरूप को विषय करे तो श्रोत्रादि में पदार्थता ही नहीं रहेगी पदार्थ का धर्म नहीं होता है स्वरूप विषयकत्वम स्वरूप विषयता च टीका में स्वरूप विषयता च न पदार्थ धर्म किसी भी पदार्थ का धर्म नहीं स्वरूप विषयकत्वम स्विषयकत्वम स्वयं ही उसका विषय हो ऐसा कोई पदार्थ का धर्म नहीं वन्य का विषय काष्ठ आदि ईंधन उसको दाह करती प्रकाश करती अन्य को न कि स्वरूप को स्वरूप विषयकत्व कोई पदार्थ का धर्म नहीं इसलिए श्रुत्रादि पदार्थ के अर्थ में स्वरूप विषय का तो अपने स्वरूप को प्रकाश कर ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए अप्रयोजक हेतु हेतु अप्रयोजक का तो अनुकूल तर्क शून्य अधिष्ठानत्वात् रज्जु अधिष्ठान होने के कारण विषय है तो अधिष्ठान चैतन्य भी अधिष्ठान होने के कारण श्रोत्रादि का विषय हो रज्जु अधिष्ठान है श्रोत्रादि का सब चक्षुरादि का विषय है ब्रह्म यदि अधिष्ठान है तो चक्षुरादि श्रोत्रादि का विषय हो अधिष्ठानत्वात् अधिष्ठान तो जो हेतु है अप्रयोजक अनुकूल तर्क शून्य अधिष्ठान तो होने से विषय हो जाएगा ये नहीं अधिष्ठानत्वेन विषयत्व साधक नहीं हो सकता है अनुकूल तर्क नहीं तो वह हेतु अप्रयोजक कहा जाता है अधिष्ठानत्वम अस्तु विषयत्वम अस्तु अधिष्ठान होने के लिए इंद्र का विषय होगा कोई जरूरी नहीं है रज्जु अधिष्ठान है इंद्र का विषय है ये ब्रह्म स्वयं अधिष्ठान है स्वयं प्रकाश होने के कारण अधिष्ठान हो जाएगा इंद्र का विषय होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए यत्र यत्र अधिष्ठानत्वम ततत विषयत्वम ये व्याप्ति में व्यभिचारे अनुकूल तर्क शून्य एम हेतु अविषयत्वा तरी शास्त्राचार्य उपदेश्यत्वम अपि न स्यात् यदि ब्रह्म विषय नहीं इंद्र का ना स्वाग का विषय ना चक्षु का विषय ना मन का विषय शब्द से भी नहीं कहा जा सकता है तो शास्त्राचार्य अभ्याम उपदेशत्वमपि न से शास्त्र में तो शब्द के द्वारा कहा जाएगा और आचार्य भी तो शब्द के द्वारा कहेंगे यदि वाह का विषय नहीं हुआ किसी इंद्र का विषय नहीं तो शास्त्र के द्वारा आचार्य के द्वारा उपदेश नहीं होगा ब्रह्म इत असंख्य सिद्धांतिकता कहता नास्तेव वास्तव्यमित्या वास्तव उपदेश्यत्व ब्रह्म में है ही नहीं पारमार्थिक उपदेश्यत्व शास्त्र उपदेश्यत्व आचार्य उपदेश्यत्व ब्रह्म में क्या-क्या पदार्थ वास्तव है ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ वास्तव है ब्रह्म से भिन्न आचार्य है या नहीं गुरु ब्रह्म से भिन्न वेद शास्त्र है या नहीं तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं तो शास्त्र आचार्य भिन्न ही नहीं शास्त्राचार्य उपदेश्य त्वम ब्रह्म में कोई वास्तव नहीं है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं से शास्त्राचार्य उपदेश त्वमपि वास्तव व ब्रह्मणि ब्रह्म में शास्त्र उपदेश्यत्वम आचार्य उपदेश्यत्वम वास्तव है कौन दोनों में से कोई नहीं शास्त्राचार्य कोई भिन्न ही नहीं देवता भी भिन्न नहीं इंद्रिय मनोभ्याम भाष्य में नो मनो मन भी प्रकाश नहीं करेगा मनुष्य अन्यस्य संकल्पयत्री अध्यवसायत्री च सद आत्मानं न संकल्पयति अध्यवक्ष अध्यवसेति च तस्यापि ब्रह्मात्मेति नो मन न तत्र चक्षुर गच्छति न वा गच्छति नो मन नो कात न मन भी नहीं जाता है मनस्य अन्य से संकल्पयत्री अन्य वस्तु का संकल्प करेगा मन मन सदस्य अंतकरण ले लेना बुद्ध मन बुद्धि दोनों अध्यवसाय त्रि बुद्धि धर्म अन्य वस्तु का निश्चय करेगी बुद्धि संकल्प करेगा मन ये संकल्प इत्री अध्यव अध्यवसाय त्रि मन है ऐसा होता हुआ आत्मा न संकल्पित अध्यवसति च न आत्मा को संकल्प करेगा संकल्प से विषय करेगा न अध्यवसा निश्चय का विषय करेगी बुद्धि क्यों तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति क्योंकि मन का भी ब्रह्म आत्मा है आत्मा को कोई विषय नहीं कर सकता है ब्रह्म किसका आत्मा है हैं किसका आत्मा है ब्रह्म सबका आत्मा है मन का आत्मा ब्रह्म है सब मन का भी आत्मा तस्या भी ब्रह्म आत्मा आत्मा का तो स्वरूप सबका वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है इसलिए इंद्रिय मन भी उसके विषय नहीं कर सकते क्योंकि स्व विषयकत्व किसी पदार्थ में नहीं है इंद्र मनोभ्यामी वस्तुन विज्ञानम तदगोचरत्वात् न विद्म वस्तुन विज्ञानम इंद्रिय मनोभ्याम इंद्रिय के द्वारा मन के द्वारा किसी व घटपट आदि रूप रस वस्तु का ज्ञान होता है जो वस्तु इंद्रिय का विषय नहीं मन का विषय नहीं तद इंद्र इंद्रिय मन के विषय नहीं होने से न विद्म तद ब्रह्म इद समिति न विद्म हम नहीं जानते क्या नहीं जानते तद ब्रह्म ईदृशमिति अ ब्रह्म इस प्रकार ऐसा नहीं जानते हैं इंद्र मन का विषय नहीं होने से ब्रह्म इसी प्रकार है ईदृशम इति न विद्मः नहीं जानने से अतो न बिजानीम्यो यथा येन प्रकार तद ब्रह्म अनुशिष्याद उपदिशेत शिष्याय इति अभिप्राय जब ब्रह्म ईदृश ऐसा नहीं जानते हैं इसलिए जिस प्रकार शिष्य को उपदेश किया जाए ये भी नहीं जानते कोई धर्म हो तो धर्म के द्वारा उपदेश करेंगे न भी जानिमो यथा यथा ये न येन न एतद उपदिशेत एतद ब्रह्म अनुशिष्याद अनुशिष्यात का तो उपदिशेत उपदेश किया जाए शिष्य शिष्य को गुरु पर आचार्य उपदेश करते हैं किंतु पहले ईदृश ब्रह्म ज्ञान हो तो इस प्रकार उपदेश करेंगे कोई धर्म नहीं तो कैसा उपदेश करेंगे इसलिए न विद्यम हो गया ब्रह्म ईदृश हम इस प्रकार ऐसा नहीं जानते हैं इसलिए जिस प्रकार इसको उपदेश किया जाए शिष्य को ऐसा भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्म ईदृश ऐसा संबंध गुण धर्म ब्रह्म में कुछ प्रकार नहीं जानते हैं तो किस प्रकार उपदेश किया जाए हम नहीं जानते यद्य कर्ण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेष्टु शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण ही करण इंद्र का विषय हो तद जैसे घट है फल है पत्र है इंद्र का विषय है तद अन्यस्मे उपदेशम सक्यम अन्य को उपदेश किया जा सकता है ऐसा फल इतने बड़ा है ऐसा रूप ऐसा रस जाति गुण क्रिया विशेषण ही अन्य को उपदेश किया जा सकता है जाति को लेकर के गुणों को लेकर के क्रिया को लेकर के विशेषण को लेकर के टीका में कैसे जाति गुण क्रिया को लेकर उपदेश किया जाता है ब्राह्मण वयम इत्यादि जातितः जाति को लेकर कहा जाता है ये ब्राह्मण है कृष्णोयम इत्यादि गुणतः काला रूप देकर काला है कृष्णोयम पाचक वयम ये पाचक है क्रिया को लेकर के पाक क्रिया करने वाले पाचक पाक क्रिया करता क्रिया से उपदेश होता है ये राजपुरुष राजा का आदमी है इत्यादि संबंध विशेषणतः संबंध को लेकर के दंडी कहते दंड के संबंध से राज के संबंध से भी राजपुरुष पुरुष राजा संबंधी हे राज्ञ पुरुष राजपुरुष राज राजा के संबंधी पुरुष राजा का संबंध स्वत्व संबंध पुरुष में स्वत्व संबंध है ना राज विशिष्ट पुरुष ऐसा भी कहा जाता है राजा विशेषण भी पुरुष का तो संबंध विशेषण संबंध विशेषण संबंध रूप से संबंध का विशेषण राजा का संबंध पुरुष में वो संबंध का विशेषण है राजा तो संबंध विशेषणत्वेन संबंधित्वेन विशेषणत्वेन दंडी पुरुष इत्यादि संबंध को लेकर के कहा जाता है ब्रह्म तो न जात्यादि मान ब्रह्म न जाति है ना गुण है ना कर्म है ना संबंध है कोई विशेषण इसलिए किसी प्रकार उपदेश किया जाए जाए साखी चेता केवल निर्गुणस्य श्रुति कहती केवल केवल उसे कुछ धर्म नहीं है निर्गुण एक अद्वितीय तत्व उसमें कोई धर्म गुण क्रिया जाति नहीं है भाष्य में न त जात्यादि विशेषणवत ब्रह्म ब्रह्म तद ब्रह्म जात्यादि विशेषणवत न जात्यादि विशेषणवत विशेषणवत में क्या प्रत्यय है मत्तु प्रत्यय विशेषण वाला जाति गुण क्रिया विशेषण वाला ब्रह्म नहीं है तस्माद विषमम शिष्यानुपदेशन प्रत्यायितुम इति इसलिए शिष्यों को उपदेश से प्रत्यायितुम ज्ञापयितुम ज्ञान करना बड़ा कठिन है विषमम सरल से नहीं होता है किस प्रकार कहेंगे विशेष से उपदेश से ज्ञान कराने के लिए उपदेशे तदर्थ ग्रहणच यत्ना अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति न विद्वान न बिजानी आचार्य कहते हैं ये नहीं कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है छोड़ो ये अर्थ नहीं हम नहीं जानते कैसे उपदेश करेंगे तो फिर छोड़ो क्या करना है चलो दूसरे स्थान चलो दूसरे कुछ करो ये नहीं ये जो न विद्वान न विज्ञानी में सत्य में कहा गया किस लिए उपदेश से तदर्थ ग्रहण च यत्ना अतिशय कर्तव्यता दर्शयति थी उपदेश करने के लिए आचार्य को भी अतिशय यत्न करना होता अतस्य अर्थ ग्रहण से शिष्य को भी यत्न अतिशय करते बताम सामान्य ऊपर ऊपर उड़ने से कुछ नहीं होगा अर्थ ग्रहण करने के लिए बिल्कुल जैसे जैसे कहा गया ऐसे चिंता न करे और साधन भी जो चाहिए वो साधन भी करे जो साधन में अपने में कमती उसको पूरा करे वैराग्य होना चाहिए अमानित्व मदम्बित्व तो ये सब गुण होना चाहिए अर्थ ग्रहण करने के लिए यत्नादि से कार्य नहीं कि एक घंटा शीर्षासन करे रोज या प्राणायाम करे प्राणायाम करे कोई आपत्ति नहीं अर्थ ज्ञान के लिए यत्न करने के लिए श्रवण श्रवण विधि पूर्वक श्रवण करे आचार्य चरण में जाकर जैसे श्रवण करना चाहिए और श्रवण के लिए नियम और उसके लिए साधन साधन चतुष्ट संपन्न श्रवण का अधिकारी उसमें कोई कमती अपने आप विचार करके उसको पूरा करे और ज्ञान अर्थ ग्रहण ज्ञान के लिए साधन चाहिए ज्ञान के लिए यत्न अतिशय करने का क्या अभिप्राय हो साधन को इकट्ठी करें भोजन बनाने के लिए प्रयत्न करो भोजन बनाने के लिए कोई साधन नहीं पानी लेकर गर्म करो भात बन जाएगी या दाल बन जाएगी साधन के बिना यत्न करो बहुत लकड़ी जलाओ पानी और डालो यत्न अतिशय करने के अवय सामग्री सब ला करके करना पड़ेगा यत्न करने का अर्थ नहीं कि सामग्री नहीं है और खाली गर्म करे पानी बात कैसे होगा सामग्री को इकट्ठी करना पड़ता है तो यत्न अतिशय में जो सामग्री चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन ये सब करे सब करके प्रयत्न करना पड़ता है यत्न अतिशय श्रवण आदि करे विधिपूर्वक श्रवण करे अधिकार साधन चतुष्टय में क्या कमती उसको भी देखे अमानितम अदाम्भित्व सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य सब साधना यम नियम सब करने पर अवश्य ज्ञान होगा ये कहते न विद्व न बिजानी में है में अज्ञेन आगमस्य भेदन प्रतिपन्नत्वात् तदृष्ट्या आचार्यस्य पे अविद्यालयस्य उत्तदृष्ट्या व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते आगमतस् तस्यैव आत्मानं रूपेण लक्षयितुं योग्यता अतिशयवत्वात् इत अभिप्रेत आह अज्ञानी अज्ञेन अज्ञानिना अज्ञानी को भेद बुद्धि है अज्ञानी की हैं अज्ञान आगम से भेद न प्रतिपन्नत्वात् आगम को भिन्न रूप से जाना है मेरे से भिन्न अज्ञानी मानता है आगम भेद कोई अलग है ही नहीं ऐसा मानता है आगम के मेरे से भिन्न मानता है देवता भिन्न मानता है भेदन प्रतिपन्न है तदृष्टिया अज्ञानी के दृष्टि से आगम है आचार्य भी है अज्ञानी दृष्टि से आचार्य के लिए शिष्य ज्ञान हो गया तो आचार्य अद्वितीय ज्ञान हो गया तो फिर शिष्य को कैसे देखेंगे एक अद्वितीय ब्रह्म हो गया ये कहते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं वो ज्ञानी थे अज्ञानी थे अज्ञानी थे तो उपदेश नहीं ठीक होगा और ज्ञानी तो अपने से भिन्न अर्जुनों कैसे देखेंगे और अपने आप को कोई उपदेश करता है अपने से अभिन्न समझ करके उसको कौन कहेगा वो अपने आप कोई पागल बैठ करके अपने आप बोलता रहता है हंसता है रोता है इसी प्रकार अपने से अभिन्न अर्जुन को समझ रहा था तो भगवान को उपदेश कैसे बनेगा ऐसे कोई कोई कहते हैं जो जीव को ब्रह्म का अवयव मानते हैं जीव जड़ सब ब्रह्म का अवयव जितने जड़ जितने चेतन सब मिल करके एक अद्वितीय ब्रह्म है ब्रह्म तो है एक अद्वितीय मतलब क्या है दो तीन चार दस ब्रह्म नहीं एक ब्रह्म है ब्रह्म कितने है एक है किंतु सब जीव जीव जड़ पर्वत चेतन जितने सब उसका अवयव मानते हैं अच्छा अपने आप को तो कोई उपदेश नहीं करेगा अपने अवयव को उपदेश करेगा हाथ कट गया है अंगुली अग्रभाग मां सोचो तो <laughs> ये अंगुली अग्रभाग तो चिंता नहीं करो तुमको हम दवाई लगा देंगे <laughs> ठीक कर देंगे <laughs> कष्ट होता हम ठीक कर देंगे ऐसे कोई कहता है अपने अवयव को उपदेश करता है अपने आप को उपदेश नहीं कर सकता है तो अपने अवयव को उपदेश करेगा कान में दर्द हुआ तो हे कान नहीं दर्द चिंता नहीं करो मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊंगा दवाई लगा दूंगा दवाई डालूंगा ये नहीं तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का फल भोग कर लो ऐसे कान को नाक को हाथ को कोई उपदेश करता अवयव को तो अपने आप को उपदेश नहीं बनाया तो अवयव कैसे उपदेश करेगा ज्ञानी उपदेश करता है ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञानी का शरीर रहेगा अज्ञान नष्ट हो गया तो शरीर समाप्त हो जाना चाहिए अज्ञान श्रुति कहती तद विज्ञानार्थम गुरुमेव समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए ज्ञानी यदि नहीं रहेगा तो कैसे गुरु उपदेश करेंगे ज्ञानी के उपदेश ज्ञान होता है तो शरीर रहता है अज्ञानी ज्ञानी नहीं मानता है मेरा शरीर ज्ञानी अपने को शरीर मानता है या शरीर को मेरा मानता है अपने को ना शरीर मानता है ना शरीर को मम मानता है तो अपने दृष्टि ज्ञानी व्यापक चैतन्य उसे भिन्न कुछ नहीं किंतु अज्ञानी क्या मानता है अज्ञानी ज्ञानी को देख सकता है ज्ञानी का शरीर दिखेगा दिखता है भिन्न रूप से दिखता है ना अब मैं ही मानता है अज्ञानी ये सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ ऐसा मानता है अज्ञानी भिन्न रूप से दिखता है तो जो जिसको भिन्न रूप से दिखता है वो कैसे दिखता है गुरु का शरीर कैसे रहेगा अज्ञान नष्ट हो गया तो तो प्रारब्ध तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षे अत संपत से चांदीय उपनिषद कहती है तब तक रहता है शरीर जब तक प्रारब्ध कर्म है जिस प्रारब्ध कर्म से शरीर बना ज्ञान हो जाने पर उसी प्रारब्ध को सो नाश कर देगा नहीं जिस शाखा में खड़ा है बैठा है कोई ऐसे अमूढ़ हो समझदार व्यक्ति उसी शाखा को काटे स्वाश्रय का विनाश का नहीं होगा अज्ञान प्रारब्ध से शरीर बना इसी शरीर में जब ज्ञान हो जाएगा वो ज्ञान उसी शरीर का कारण प्रारब्ध को नाश नहीं करता है प्रारब्ध सत्रित संचित कर्म क्रियमान कर्म सब को ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात गुरुते प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता है प्रारब्ध कर्म रहेगा तो प्रारब्ध के कारण सुख दुख ज्ञानी को होगा ज्ञानी के शरीर में चित्त पिपासा भोजना भिक्षाटन होगा ऐसे उपदेश रास्ता दिखेगा उसको चल सकता है ज्ञानी या एक अद्वितीय ब्रह्म हो गया तो कुछ नहीं दिखेगा कुछ नहीं दिखा तो चल भी नहीं सकता है खा नहीं सकता भोजन सामने रख दिया खाइए और क्या खाएगा दिखेगा ही नहीं उसको अपने से कुछ ही नहीं जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक लेस अविद्या की अनुभूति मानते लेस अविद्या तो स्वल्प अविद्या स्वल्प अविद्या का तो अविद्या का नाश हो तो हो जाता है ज्ञान से उसका संस्कार रहता है अथवा प्रारब्ध कर्म के लिए कारण रूप से स्वल्प रहता है तब व्यावहारिक भेद पारमार्थिक अभेद होगा व्यावहारिक भेद ये क्या संभव है पारमार्थिक यदि अद्वितीय ब्रह्म है तो व्यावहारिक भेद रह सकता है क्या एक बिंब मुख का है अद्वितीय है क्या सो दर्पण में सो प्रतिबिंब हो जाएंगे हैं अनेक मुख प्रतिबिंब हो सकता है एक वास्तव मुख और बाकी सौ कल्पित हो सकते है क्या इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म पारमार्थिक कल्पित नाना भेद है कल्पित भेद को पारमार्थिक अद्वैत नष्ट कर देगा पारमार्थिक अद्वैत और कल्पित द्वैत दोनों का विरोध है नहीं बताओ वास्तव मरुभूमि और कल्पित जल हो सकता है वास्तव मरुभूमि में जल कल्पित हो सकता है क्या है दिखता मरुचि का इसी प्रकार यदि व्यावहारिक अद्वैत व्यावहारिक द्वैत मानेंगे तब तो, तो विरोध है अतः पारमार्थिक अद्वैत पारमार्थिक द्वैत हो तो विरोध है उपदेश करने के लिए पारमार्थिक द्वैत होने की आवश्यकता नहीं कल्पित द्वैत में उपदेश हो सकता है क्या वास्तव आपसे भिन्न कोई नहीं स्वप्न में उसमें शब्द प्रयोग व्यवहार मैत्री झगड़ा होता है ना स्वप्न में पारमार्थिक भेद है क्या सपने में भेद दिखता है ना नहीं व्यवहार होता है नहीं व्यवहार होता है झगड़ा भी होता है पढ़ाई होता है रटते भी कोई सपने में उपदेश भी होता है कोई भी जाकर मंदिर में पूजा करता है प्रणाम करता है स्नान करता है गिर पड़ता है सब होता है तो वहाँ वास्तव भेद है क्या व्यवहार कल्पित भेद से व्यवहार हो सकता है और व्यवहार होता तो पारमार्थिक भेद है सपने में आपने व्यवहार किया वार्तालाप किया झगड़ा करते हैं तो अर्थात सपने में आपसे भिन्न चौथे थे नहीं होने पर भी व्यवहार होता है ना नहीं ये दृष्टांत सपन दृष्टांत को थोड़ा विचार करो भेद वास्तव नहीं होने पर भी व्यवहार होता है कल्पित भेद से व्यवहार होता है तो इसी प्रकार व्यावहारिक भेद से आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं जिस प्रकार भिक्षाटन करते शरीर में यात्रा शरीर में चलना क्षुत पिपासा निवृत्ति स्नान आचमन सब होता है जब तक प्रारब्ध रहता है वो भी अज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी के दृष्टि से ज्ञानी अपने को देह मानता है क्या देह से बिना व्यापक ब्रह्म में क्या व्यवहार होता है व्यापक ब्रह्म खाता है या उपदेश करता है उपदेश नहीं करता है कुछ नहीं करता है उपदेश वास्तव है ही नहीं वास्तव उपदेश है ही नहीं और जो उपदेश है व्यावहारिक है श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद पारमार्थिक है व्यावहारिक है व्यावहारिक है तो माई कहे या पारमार्थिक माई कहे हाँ भगवान का शरीर माई कहे या पारमार्थिक है हाँ सब कहेंगे अरे ये तो पापी है भगवान के शरीर को को कह देते हैं सब माइक है माइक प्रातिहासिक पारमार्थिक मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना भगवान स्वयं कहते गीता में नहीं कहते सर्व जगत मया ततम व्याप्तम किस रूप से अव्यक्त मूर्तिना ये वंशीधर वंशी भी ऐसे शरीर से व्याप्त है अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त इंद्रिय विषय नहीं है सर्वत्र मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त यो पश्यति सर्वत्र सर्वं समय पश्यति भगवान नहीं कहते सर्वत देखने के लिए या एक परिचन्न रूप देखने के लिए कहते भगवान कहते परिचन्न सर्वभूत से अनेकम भावम अव्यमीक्षते सात्विक ज्ञान कहा गया सर्वत्र एक तत्व है तो व्यावहारिक भेद से उपदेश बन जाएगा उसमें कोई आपत्ति नहीं और भगवान अपने अद्वैत ज्ञान हो गया ज्ञानी को अद्वैत ज्ञान हो गया तो व्यावहारिक भेद से व्यवहार होता है तो अज्ञानी की दृष्टि से उपदेश बन जाएगा देखो दिया है अज्ञान आगम से भेदन प्रतिपन्न ज्ञात तदृष्टिया आचार्यस्यापि अविद्यालयसो तदृष्टिया आचार्य में अविद्यालय से प्रारब्ध होने के कारण तजन्य दृष्टि व्यावहारिक दृष्टि आचार्य की भी है तो उपदेश व्यावहारिक उपदेश उपपद्यते उपदेश व्यावहारिक है पारमार्थिक वेदांत का उपदेश पारमार्थिक है व्यावहारिक भगवान श्री कृष्ण का उपदेश व्यावहारिक या पारमार्थिक ये तो आचार्य व्यावहारिक उपदेश कर देंगे आगमतः आगम से उपदेश हो जाएगा तस्यैव आत्मानं ब्रह्म रूपेण लक्षयितुम तस्यैव आत्मानं आगमस्य आगम का भी आत्मा है ब्रह्म तस्यैव आत्मानं ब्रह्म रूपेण उसी का भी आत्मा ब्रह्म है आगम का स्वरूप ब्रह्म है ब्रह्म रूपेण लक्षयितुम योग्यता अतिशयवत्वादित्यः योग्यता अतिशयवत्वात् प्राणादि चेष्टा चेतना अधिष्ठान पूर्विका अनुमान कहा कहकर आत्मा को ब्रह्मत्व ने लक्षणा कर सकते आगम वाक्य से उसमें योग्यता है सब कुछ ब्रह्म है अत्यंत में भाष्य में दिया अत्यंत में उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान प्राप्ते तद अपवादो ही मुच्यते अत्यंत में उपदेश प्रकार प्रत्याख्यान प्राप्ते उपदेश का प्रकार बिल्कुल प्रत्याख्यान हो गया ना विद्वान इंद्र विषयनी न भी जानी ये नहीं तो अनुशिष्यात शिष्य को कैसे उपदेश किया जाए हम नहीं जानते तो उपदेश प्रकार बिल्कुल प्रत्याख्यान हो गया अब प्रत्याख्यान प्राप्त तद अपवादो मुचते उसका अपवाद है निषेध कर दिया मा हिंसा सर्वभूतानि सामान्य वाक्य हिंसा का निषेध उसका कोई अपवाद है अग्नि समय पशु माल पशु पशुनायजेत अपवाद होता है जो उत्सर्ग होता है होता सापवाद अपवाद न सह उसका कोई अपवाद होता है ये सामान्य उत्सर्ग हो गया उपदेश नहीं कर सकते सामान्य उपदेश प्राप्त होने पर अपवाद है अपवादो मुच्यते सत्यम एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाणेर न पर प्रत्यायितुम शक्य प्रत्यक्षादि प्रमाण से दूसरे को ज्ञान नहीं करा सकते हैं आगमन तो शक्यते व प्रत्यायितुम आगम से ज्ञान करा जा सकता है प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते प्रतिशादी प्रमाण से आगम से कह सकते हैं तो कैसे कहेंगे तद उपदेशार्थम आगममाह उपदेश के लिए आगम कहते अन्य देव तद विदिताद अथवा विदिताद ये उपदेश प्रकार है अन्य देव तद विदिताद अथवा विदिताद ये उपदेश है विद अन्य देव तद विदित ज्ञात से अन्य और अज्ञात से भी अन्य है अन्य देव का तो पृथक एव पृथक एव तद तद कौन है यत प्रकृतम ब्रह्म अन्य देव तद विदिता तत् सबसे प्रकृत लेना जो श्रोत्र आदि का श्रोत्र चक्षु का चक्षु मन का मन जो कहा गया श्रोत्र आदि का प्रवर्तक वो तद अन्य देव तत् का से यत प्रकृतम श्रोत्र आदि ना श्रोत्र आदि श्रोत्र का श्रोत्र और चक्षु का चक्षु इत्यादि जो कहा गया वो तो अन्य देव अन्य किससे अन्य अभिषेम चतेशाम तद विदितात अन्य देव विदितात अन्य देव ही जो श्रोत्र से श्रोत्र चक्षु का चक्षु श्रोत्र आदि का अभिषय है वो तद विदितात अन्य विदित से अन्य अन्य देव तद विदितात अन्यत का क्या अर्थ हुआ पृथक तत् का क्या अर्थ हुआ ब्रह्म श्रोत्र का श्रोता जी तो अन्य देव तद किससे अन्य विदित से विदित से अन्य है तद विदिता धन्य देव ही टीका में से पदार्थान व्याख्याय तात्पर्य दर्शयितुम उपक्रमते यद विदितम न अवे नहीं विदितम नाम भाष्य में देखो विदितम नाम यद विधि क्रिया अतिशयन आप्तम तद विधि क्रिया कर्मभूतम विधि क्रिया कर्मभूतम ऋष्वित ईप्सिततमम कर्म चैत्र कामम गच्छति इप्सिततम क्रिया आप्तम इष्टम जैसे चैत्र ग्रामम गच्छति गमन क्रिया से प्राप्त करना चाहता है ग्राम को कर्तुरिप्सिततमम कर्म इसी प्रकार विदित ज्ञात होता है यत विधि क्रिया अतिशयन आप्तम विदितम प्राप्त हुआ वेदन क्रिया ज्ञान क्रिया से अतिशयन प्राप्त हुआ तद विधि क्रिया कर्म भूतम ग्रामम गतः ग्रामम गत कन से गमन क्रिया से ग्राम प्राप्त हुआ विदितम कहन से वेदन क्रिया से ज्ञान क्रिया से जो प्राप्त हुआ जो विधि क्रिया का कर्म गमन क्रिया का कर्म जैसे ग्राम ऐसे विधि क्रिया का कर्म है आत्मा ब्रह्म क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्यादिति सर्वमेव व्याकृतम तद विदितमेव तत्स्माद अन्यति इत्यर्थ विदित वस्तु क्या है किस किस को विदित कहेंगे क्वचित किंचित कस्यचित विदितम कस्यचित किंचित विदितम कस्यचित पुरुषस्य किंचित विदितम क्वचित विदितम कहां कुछ ज्ञात है कस्यचित किसी को कुछ ज्ञात है किसी को कुछ ज्ञात है किसी को कुछ है तो कभी कुछ ज्ञात है इसी प्रकार वो एक पदार्थ बताओ जिसको कोई नहीं जानते कोई नहीं जानते तो उसको शब्द से कैसे कहोगे कोई नहीं जानते तो अभी नहीं जानते तो उसको किस शब्द से कहोगे एक बताओ जिसको कोई नहीं जानते एक बताओ जिसको शब्द से नहीं कहा जाता है जिसको शब्द से नहीं कहा जा सकता है तो बोलो किससे कहेंगे शब्द से कहेंगे शब्द से नहीं कहा जाता तो कैसे कहेंगे कहेंगे तो शब्द से इसलिए सब कुछ विदित है कस्यचित किंचित विदित सब कहा दिया क्वचित कहाँ किंचित कुछ किसी का विदित ज्ञात थी सर्वमेव विदितम कौन व्याकृतम जो व्याकृत स्थूलीभूत है स्थूल पदार्थ तद विदितमेव जितने स्थूल पदार्थ सब विदित ज्ञात है तत्स्माद अन्यद इत्यर्थ तद् ब्रह्म तस्माद् अन्यत जितने स्थूल पदार्थ है व्याकृत है उसे भिन्न है यदि तो विदित नहीं तो अविदित होगा ब्रह्म अविदितम अज्ञातम तरी इति प्राप्तया कहते अज्ञात ये भी नहीं है अथवा अविदितात अधि अविदित से ऊपर है अविदितात अविदितम तो न विदितम इति अविदितम विदित विपरीतात विदित से विपरीत विदित कौन हुआ व्याकृतम उसे विपरीत क्या होगा अव्याकृतम विदित तो, तो अव्याकृताद अव्याकृत जो व्याकृत नहीं कार्यभूत नहीं है कारण रूप है विदित हो गया कार्य व्याकृत हो गया व्याकरण हो गया नाम रूप से कार्य हो गया और अव्याकृत के कारण अव्याकृतात का था अविद्या लक्षणात अविद्या स्वरूप अविद्या स्वरूप हो गया अविदित क्योंकि जितने व्याकृत सब ज्ञात है उससे भिन्न है विदित विपरीत अव्याकृत अविद्या अविद्या क्या है व्याकृत बीजात व्याकृत का बीज कारण जितने कार्य कारण के बिना कार्य नहीं होता है व्याकृत होता है प्रकट होता है कार्य प्रपंच उसका बीज है अज्ञान प्रलय काल में अज्ञान रहता है बीज तभी अंकुर होता है सपना सूक्ष्म फिर प्रपंच बन जाता है सुषुप्ति अवस्था में व्याकृत बीज अज्ञान रहता है तभी जगता है अज्ञान नहीं रहेगा तो आगे स्वप्न अवस्था को जागृत अवस्था को नहीं आएगा आता है व्याकृत बीज अज्ञान है अव्याकृत शब्द से अन्य देवता अविदिता अविदिता अधि अविदित अज्ञान से उप अन्य अधिका अधिति उपरि अर्थे अधिका तो ऊपर अज्ञान से ऊपर है अज्ञान से ऊपर मतलब क्या है नीचे नहीं अज्ञान के ऊपर है नीचे नहीं ये ऊपरी कहने से लक्षण है अन्य दितर्थ अधिकार तो ऊपर ऊपर कहने का भाव उससे भिन्न जो इसके ऊपर है उससे भिन्न है लक्षण है अन्य तो कहने के लिए अधिक कह दिया ऊपरी यदि अस्माद अधि ऊपरी भवति तत्व समाद अन्य इति प्रसिद्धम जो जिससे ऊपर है उससे भिन्न है कोई वस्तु छाते के ऊपर है कोई पक्षी पेड़ के ऊपर है और वृक्ष से भिन्न है क्या भिन्न है जो जिसके ऊपर होगा वो उससे भिन्न है तो यहाँ अविदित से अधिक कहने का अर्थ अविदित से भिन्न है अन्यत प्रसिद्धम टीका में अभी तो अन्य देवता विदिता अतो अविदिता तथि व्याख्यान हो गया टीका में वाक्यस्य पदार्थान व्याख्याय जो वाक्य उपदेश अन्य देवता विदिता अथवा विदिता तथि विदित से अन्य ब्रह्म अविदित अव्याकृत अज्ञान से भी भिन्न है ये तो व्याख्यान हो गया पदार्थ कई व्याख्या करके तात्पर्य दर्शयितुम उपक्रमते उसका क्या तात्पर्य है ब्रह्म का उपदेश बिल्कुल प्राप्त नहीं तो आगम से उपदेश हुआ ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए कहते ज्ञात से भिन्न है अज्ञान से भिन्न है इसका क्या तात्पर्य है इसलिए कहते यद विदितम तदल्पम मर्त्यम दुखात्मक चमिति हेयम जितने विदित ज्ञात है कोई भी वस्तु का ज्ञान होता है बैठ कर ध्यान करते समय कुछ ज्ञात होता है विदितम यदि तद अल्पम परिचन्नम ध्यान में बैठे कुछ देखने लगा रूप कुछ शब्द सुनाई पड़ा और खुश हो जाते ब्रह्म ज्ञान हो गया कोई शब्द सुनाई पड़े तो ब्रह्म ज्ञान हो गया रूप देखे तो ब्रह्म ज्ञान हो गया बहुत प्रकाश आ गया प्रकाश ज्योति दिखती है वो प्रकाश नहीं ब्रह्म हम बैठे यहाँ आकर बैठते बैठते कभी प्रकाश थोड़ा दिख गया कहते हम आत्मा आलोक दिख लिया साक्षात्कार हो गया वो नहीं कभी किसी अवस्था में जो विदित ज्ञात है वो ज्ञात वस्तु चिद भाष्य चेतन से प्रकाश्य जड़ है तदल्पम मर्त्यम वो अल्प है मर्त्य है है जड़ है जितने विदित ज्ञात वस्तु है जाना गया जाना जा सकता है अभी ज्ञात नहीं हुआ ज्ञात हो सकता है विदितम तदल्पम अर्त्यम दुखात्मकम च दुख भी दुखात्मक दुख सर्वे इति क्या करना है हेयम त्याज्यम इसलिए जो ज्ञात पदार्थ सब त्याज्य है साधन में बैठते से ध्यान में कुछ देख लिया स्वरूप और उसमें आग्रह नहीं करना उसको छोड़ना मिथ्या है ज्ञात वस्तु जितने ज्ञेय पदार्थ सब विदित अल्प है मरते दुखात्मक इति हेयम तस्माद् विदिताद अन्यत ब्रह्म तु तो ब्रह्म विदित से अन्य विदित हो गया हेय त्याज्य विदित क्या हुआ हेय विदित से अन्य कहें तो ब्रह्म क्या होगा त्याज्य हेय क्या होगा अहेय जितने विदित सब हेय उसे भी न ब्रह्म दुख दिया विदिताद अन्यत ब्रह्म तु तो उक्तम स्यात् अहेत्वम कस्य ब्राह्मण अय अत्याज्य ये होता त्याज्य उहाक त्याग से बनता है ये अय न ये त्याज्य नहीं है ब्राह्मण अपने स्वरूप ही है अपने स्वरूप का त्याग कर सकते हैं क्या नहीं नहीं देह त्याग कर दे स्वरूप त्याग नहीं कर सकते अय तो मुक्तम तथा अविदितात अधि अविदित से अल्प अविदित अधिक अंश क्या होगा इतुक्ते तो मुक्तम अविदितात अधिक अंश से वो उपादेय ग्राह्य भी नहीं है अनुपादेयतम तो है या नहीं उपादेय नहीं तुम क्यों अविदितादधि अनुपादेय क्यों कार्यार्थम ही कारणम अन्यद अन्यन उपादीयते अतस्य न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेयम भवति इति एवम विदिता विदिता भ्याम अन्यति वाक्य से ये बता गया कार्यार्थम ही कारणम अन्यद अन्यन उपादीयते अन्य न कुलाल है न कुलाल लाता है मिट्टी लाता है कारण है घट का कारण मिट्टी है कार्यार्थम घटार्थम कारण मृद अन्य मिट्टी कुलाल से भिन्न है घट से भिन्न है दोनों से भिन्न घट से भिन्न है मिट्टी हैं हाँ? जिस मिट्टी से घट बनाएंगे वो मिट्टी घट से भिन्न है या नहीं जो मिट्टी से घट बने वो घट मिट्टी से भिन्न या नहीं घट मिट्टी से भिन्न नहीं किंतु मिट्टी घट से भिन्न है कार्य कारण से भिन्न नहीं है कारण कार्य से भिन्न है कार्य के बिना कारण रह सकता है क्या घट के बिना मिट्टी रह सकती है इसे मिट्टी घट से भिन्न है अब मिट्टी के बिना घट रह जाएगा इसलिए घट मिट्टी से भिन्न है हैं घट मिट्टी से भिन्न नहीं है पट तंतु से भिन्न है नहीं पट तंतु से भिन्न नहीं तंतु से पट भिन्न नहीं क्योंकि तंतु के बिना पट नहीं रहेगा और तंतु पट से भिन्न है भिन्न है क्योंकि पट को खोल देंगे तो तंतु रहेगा पट के बिना रह सकता है पट बनने के लिए तंतु रहता है खोलने पर भी रहता है इसी प्रकार मिट्टी घट से भिन्न है अन्यद कारणम अन्यन उपादीयते कार्य घट बनाने के लिए कारण भिन्न कुलाल से भिन्न मिट्टी अन्यन कुलालेन उपाधि कुलाल मिट्टी लाता है दंड चक्र इकट्ठी करे घट बनाता है अतच न व्यतीतुर अन्यस्मै प्रयोजन जो ज्ञाता है ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए और क्या प्रयोजन क्या बनाएगा घट बनाएगा भोजन बनाएगा वो कुछ नहीं अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं स्वर्ग के लिए आ करेगा वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्य कोई प्रयोजन के लिए अन्यद उपादेयम न भते अन्य कुछ ग्राह्य नहीं होगा ज्ञान हो गया तो अन्य कुछ लाना कुछ करना कुछ नहीं इति एवं विदित अविदित अभ्याम अन्यत कह करके विदित अविदित अभ्याम अन्यत हे उपादेय प्रतिषेधन ब्रह्म हेय या उपादेय दोनों का प्रतिषेध कर दिया स्वात्मनो अनन्यत्वाद स्वात्मनो अनन्यत्वाद ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवृत्तिता स्यात् क्या पाठ है स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा अन, अनन्यत्वाद पाठ है किसमें स्वात्मनो अनन्यत्वाद आत्मा से अभिन्न होने से ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निवृत्तिता से आता आत्मा से अभिन्न है अनन्यत्वाद ब्रह्म विदित अविदित दोनों को निषेध कर दिया तो अपना स्वरूप रहा आत्मा से अभिन्न हुआ ब्रह्म स्वात्मनो अनन्यत्वाद ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता आदा ब्रह्म के विषय का नाल जो जिज्ञासा शिष्य की थी जानने की इच्छा वो जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है टीका में यद वेदितुर अन्य तद विदितम अविदितम चैति द्वयी गति वेदिता है ज्ञाता ज्ञाता से जो भिन्न है वो क्या होगा विदित है अविदित होगा दोनों विदितम अविदितम चैति द्वयी गति आपसे जो भिन्न पदार्थ है कुछ पदार्थ आपके द्वारा ज्ञात है और कुछ पदार्थ अज्ञात है दो ही गति आपसे भिन्न कुछ विदित कुछ अविदित अरे विदित अविदित दोनों का निषेध कर देंगे तो कोई बचेगा आप नहीं बचोगे हाँ विदित अविदित दोनों को निषेध आपसे भिन्न सब विदित अविदित तो अविदित तत्व निषेध है ना तत्व अविदितत्व जितने सब का निषेध कर देंगे तो क्या रहेगा वेदित स्वरूपम वेदिता ज्ञाता का स्वरूपम ब्रह्म इत्यत्र तात्पर्यम आगम से इसमें अन्य देवता द्विदिता तथा विदिता तदि ये आगम का तात्पर्य है ये आगे स्पष्ट करते हैं अपना स्वरूप ही ब्रह्म है ओम आप्यायन्तु ममांगानि